और अल्लाह ताला ने उनके माल में से जो अपने रसूल की तरफ लौटाया है तुमने उस पर ना घोड़े दौड़ाए और ना ऊँट लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गालिब कर देता है और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है